ॐ पूर्णमुदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय अड़तालीसवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें प्रश्न नैयायिक सांख्यादि के माध्यम से प्रश्न उठ रहा था कि सहजम कर्म कौनते या सर्वसम न त्यजित सर्वारंभा दोषण धोमेर इस श्लोक के ऊपर जो सहजन्मा कर्म है जन्म के साथ साथ आयुवा कर्म बड़ा हित कर्म जब तक देहात्म बुद्धि है मनुष्यादि बुद्धि जब तक है आत्मभाव में जब तक नहीं पहुंचा तब तक कर्तव्य होता है सहज कर्म वही है हम्म, साथ साथ उत्पन्न सहज आए क्योंकि सहज साथ साथ उत्पन्न वह कर्म वर्णाश्रम कर्म भीत कर्म सदोषम अपिनत्य जब एक दोष युक्त भी हो त्यागना नहीं चाहिए उसको क्यों सबके सब कर्म जो भी होता है सब दोष युक्त होता है सर्वारंभ चित्त कर्म मात्र होते हैं आरंभ जो होने वाले कर्म होते हैं दोष से युक्त है जैसे धूम से अग्नि दूषित है अग्नि जलाएंगे तो धूम जरूर होगा कोई भी कर्म करेंगे तो शुद्ध कर्म मिलने वाला दूषित है अज्ञान अवस्था में होता है कर्म ज्ञान अवस्था में नहीं है तो अज्ञान अवस्था में कहने के त्रुटि होना संभव है सब मई दोषण दुर्गंगा पिता कहा तो उसके ऊपर में शंका उठाई पूर्वादि ने क्या सारे कर्म त्यागा नहीं जा सकता इसलिए कर्म करने को कहा इस लोक में सहजम कर्म कौन दे कहा अथवा सहजन्मा जो कर्म है सहज कर्म उसको त्यागने पर प्रत्यवाय लगेगा पाप लगेगा इसलिए नहीं त्यागना कहा सदोषम अपनी न तेजत कहा हुआ है तो न तेजत का क्या अर्थ है सारा त्यागना संभव नहीं है इसलिए नहीं त्यागना अथवा सहज कर्म को त्यागने पर दोष युक्त हो जाता पाप लगेगा प्रतिवाय होता है इसलिए नहीं त्यागना दो प्रश्न था तो सिद्धांत की क्या लेना इस प्रश्न से क्या लेना सिद्धांत ने कहा पूर्वाज ने कहा यदि जो त्यागा नहीं जा सकता जो कर्म अनंत कर्म है उसको भी कोई त्याग देता हो तो वो तो प्रशंसा के पात्र होगा जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पूरे समुद्र को चुल्लू की भर एक चुल्लू बना के पी लिया तो अशक्य था उसको ऐसे करके दिखाया वो तो प्रशंसा प्रशंसा के पात्र हो गए अगस्त ऋषि इस प्रकार वो होगा तो सिद्धांत ने कहा भाई ठीक है सब त्याग सकता तो अच्छी बात किंतु त्यागा नहीं जा सकता जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है सारे कर्मों का त्याग तो तभी संभव होगा शरीर से आत्मबुद्धि हट जाए आत्मा में आत्मबुद्धि हो जाए तब तक त्यागना संभव नहीं है शरीर में आत्मबुद्धि वालों को लिए कहा हुआ है नहीं कैसे क्षण को जातु ने कर्म के भी कहा है यह क्षण भी नहीं रह सकता वो व्यक्ति कर्म किए बिना चाहे मन से हो वाणी से हो शरीर से हो तीन होते हैं कर्म करने वाले शरीर की स्थिति चुपचाप रखा हुआ है फिर भी कुछ बोलता रहे वाणी से कर्म हो सकता है अथवा मन से सोचता रहे कर्म हो सकता है वाणी से कर्म हो सकता है केवल शरीर को चुपचाप रखने मात्र से कर्म का भाव नहीं समझना चाहिए कह भी हो सकता है कर्म करने वाले तीन हैं मन वाणी शरीर कोई ना कोई कर्म हो सकता है तो फिर सांख्यों एक प्रश्न उठाया लोगों ने क्या ये आत्मा जैसे सांख्यों का गुण नित्य प्रचलित है चलायमान है एक क्षण उथल पुथल के बिना रह नहीं सकते सांख्यों को उसी प्रकार का स्वरूप है इसका इसलिए कर्म करना है इसने अथवा बौद्धों के विषयों के समान है जो पांच स्कंध बताया गया है वो उथल पुथल होते रहते हैं पांच स्कंद हम्म। तो रूप स्कंध विज्ञान स्कंध वेदना स्कंध संज्ञा स्कंध संस्कार स्कंध पांच हैं उनकी स्थिति बदलती रहती है उस प्रकार का है ये पुरुष इसलिए इसको कर्म किए करना ही पड़ेगा अथवा वैशेषिकों के समान ऐसा माने पुरुष को दो प्रकार है आत्मा को दो प्रकार मानते हैं वो वैशेषिक लोग माने निष्क्रिय और सक्रिय दो अवस्था मानते हैं जब जब कुछ करता है तो सक्रिय हो जाता है कुछ कर्म करेगा तो सक्रिय हो जाता है और जब कुछ नहीं करता चुपचाप रहता निष्क्रिय हो जाता है दो प्रकार के पुरुष की चर्चा है वैशेषिक तो हो गया नैयायिक हो गया उसकी उसमें क्या एक विशेषता यह होगी जब सक्रिय अवस्था में आएगा तो कर्म करेगा ही करना ही पड़ेगा उसको तो इसलिए भगवान ने कहा कि सहजम कर्म कहते है सदोषम है सक्रिय कुछ करता है तो सक्रिय बोलते हैं उस अवस्था में कर्म करना ही होगा इसलिए सहज कर्म करें तो तात्पर्य वहां घट जाएगा इसमें घट भी जाएगा सहजम कर्म करने वाला घट भी जाएगा कहा तो सिद्धांत ने यहीं से को लेकर कहा देखो सक्रिय अवस्था में आने के पहले सक्रियत्व का अभाव था कि भाव था अभाव था तो अभाव से सक्रिय होना आरंभवादी है वैशेषिकादि पहले रहेगा अब होना मिट्टी में घट बिल्कुल है ही नहीं अभाव है जब तट चक्र आदि का प्रयोग होता है तो घट नया घट पैदा होता है पहले से घट नहीं होता ये कारण होता है अभाव से उत्पन्न है पूर्व स्थिति अभाव है हर कार्य की पूर्व स्थिति अभाव है ऐसा मानते हैं वैश्य सिद्धांत इस प्रकार का है तो अभाव से भाव होगा तुम्हारे कथन के आधार पर जब तो अभाव से भाव नहीं देखा गया भगवान के बाणी का विरुद्ध है अभाव से भाव मानने पर ना सतो विद्युत भाव हो ना भाव हो विद्युत ने कहा हुआ भगवान के द्वितीय अध्याय में असत का कभी भाव नहीं हो सकता सत्य हो सकता माने असत पर अभाव अभाव से कोई भाव पदार्थ हो नहीं सकता यदि अभाव से भाव पदार्थ हो जाता हो तेल चाहने वाला व्यक्ति ते, तेल के अभाव सारे संसार में अभाव है तेल नहीं मिलता रेत में भी नहीं है कहीं भी नहीं है तो फिर ये तेल चाहने वाले व्यक्ति तिल को ही क्यों ढूंढता होगा सरसों को ही क्यों ढूंढता है उसको पता है यह तेल है अभाव से भाप की उत्पत्ति रेत पर भी तेल होना चाहिए अभाव से भाप की रेत पे अभाव है तेल का उससे भी होना चाहिए पाषाण से होना चाहिए मिट्टी पेराई करने से तेल आना चाहिए नहीं आता तत्त व्यक्ति तत्त कारण को ढूंढता है यहां पर ये वस्तु है ऐसा जानता है कपड़ा चाहने वाले व्यक्ति रुई को ढूंढता है कपास को ढूंढता है ये नहीं कपड़े का अभाव पट का अभाव सर्वत्र ही है तो दूसरे को क्यों नहीं लाता उसको पता होता है यहां कुछ तो है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति कोई ही बांधता रहे ही बांध रहे करके सिखा गया तो इस तरह से अभाव से भाव को लेकर के उन्होंने कई प्रश्न उठाया वैशेषिकों ने सिद्धांत ने खंडन कर दिया खंडन करके अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो सकती है ये सिद्ध किया उसके बाद सांख्य पक्ष में वही दोष है वो परिणामवादी है परिणाम होने से पूर्व अवस्था में परिणाम था कि परिणाम का अभाव था अभाव था बोलते शब्दांतर कर देते हैं हमारे यहां घर जाएगा हम्म, किंतु घटने वाला नहीं अभाव से भाव परिणाम होना और क्या है परिणाम माने भाव पदार्थ है दूध का दही बनना दही बनने से पूर्व अवस्था जो स्थिति रही दही था क्या अभाव था स्थिति है के पक्ष भी अभाव से भाव मानने वाला होता है कोई कहते नहीं मूल का ही जो संस्थान विशेष है वो संस्थान पहले था कि नहीं था प्रश्न होगा वह संस्थान होने के पहले संस्थान था कि नहीं था नहीं था अभाव था वो भी प्रकारांतर से वो यहां अभाव से भाव मानने वाले होते हैं तो सारे ही अभाव से भाव कार्य की उत्पत्ति मानते हैं इसलिए भगवान के जो वाणी से विरोध है भगवान कहते हैं नासतो देते भाव असत का कोई भाव नहीं होता अस्तित्व नहीं होता कहते हैं विरोध है एक कहा अब कहते हैं जहां जहां प्राप्ति थी अभाव से भाव के होने की प्राप्ति थी सब निषेध कर दिया कार्य अभाव से होता नहीं है तो फिर प्रश्न उठेगा वेदांतिक ऊपर आपकी क्या मान्यता है कि तो संसार जो कार्य है मैंने पहले यदि था तो क्यों अभी क्यों उसका होना उत्पत्ति के पहले हो तो फिर प्रयास क्यों इत्यादि प्रश्न आता है तो बताते हैं इस बात में कहते हैं आरम्भवादे परिणामवादे तो उत्पत्त्यादि व्यवहार अनुपत्त हो परिशेष आयातम दर्शाएगी आरंभवाद है वैशेषिकों का पहले नहीं था अब होना परिणामवाद है वस्तु पहले है बाद में रहता है दूध पहले है बाद में दही बनना वो परिणाम है ऐसा मानते हैं क्यों दूध दही का तो अभाव ही था वो उसके मत में भी आता है दूध भले पूर्व अवस्था में रहा हो किंतु दही तो नहीं है ना दही का तो अभाव ही था ये सिद्धांत ये दोष देते हैं वहां तो परिणाम बाद तो उत्पत्ति आदि व्यवहार और तत्व दोनों बादों में उत्पत्ति आदि की व्यवहार नहीं हो सकता उत्पत्ति मानना कभी जगत मान, जगत के कार्य उत्पत्ति मानना व्यवहार होने पाने से परिशेष आयातम जैसे परिशेष एक युक्ति है न्याय है उसका आया हुआ जो अर्थ है उसको पत्ते खाते हैं आप परिशेष क्या है ये जो जगत आदि कार्य कैसे होते हैं परिशेष परिशेष उसको बोलते हैं प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्रा प्रसक्त हो परिशिष्य भी परिशेष जहां जहां प्राप्त था उसको निषेध करने पर जहां जहां प्राप्त है उसको उसका निषेध करने पर जो एक शेष बचता है उसी को परिशेष कहते हैं जैसे व्यक्ति का पहचान दो प्रकार से कराया जाता है एक तो अमुक नाम का व्यक्ति है नाम देकर बोलेंगे अरे बिना नाम दिए भी पहचान हो जाता है कैसे जिस व्यक्ति का वो व्यक्ति ये नहीं है वो व्यक्ति ये नहीं है निषेध निषेध कर अन्य को सबको निषेध करने के बाद जो बचेगा तो वो समझे कि अमुक व्यक्ति यही है बिना बोले तैयार हो जाएगा अन्य तो अन्य को निषेध करने पर तो परिशेष विधि यही है जहां जहां प्रसक्ति थी उसके निषेध करने पर प्रसक्त प्रतिषेध प्रसक्त की प्रतिषेध कर निषेध करने पर जहां जहां प्राप्त है उसके निषेध करने पर अन्यत्रा प्राप्त हो अन्यत्रा प्राप्त है नहीं जितने प्राप्त थे सबको निषेध कर दिया अन्यत्रा प्राप्त हो अन्यत्र प्राप्ति न होने पर परिशेष मानव विधिर परिशेष जो शेष बचा हुआ एक होता है उसको कहते हैं परिशेष या एक ही अब वेदांत बचा हुआ है सबका निषेध हो गया तो अन्यत्र कहीं प्राप्ति नहीं अब जगत के विषय में कार्य के विषय में तो एक ही वेदांत बचा हुआ उसको परिशेष न्याय बोलते हैं इसको हो गया यही है ये कहते हैं पारिशेष्याद कहते हैं परिशेष न्याय के द्वारा क्यों जहां जहां प्राप्त था अभाव से भाव होना जो भाव पदार्थ वर्तमान में कहां से होना विचार चल रहा था कैसे होते हैं तो आरंभवाद बाद में प्राप्त था कार्य मानते हो कार्य की सत्ता मानते हैं परिणाम बाद में प्राप्त था कार्य की सत्ता मानते हैं यही है परिशेष्याद परिशेष न्याय आया वो दोनों का खंडन हो गया वो भी सिद्धांत ठीक नहीं वो भी सिद्धांत ठीक नहीं भाष्यकार ने कह दिया तो परिशेष के द्वारा सत एकम एक वस्तु एक वस्तु सत्य एक ही वस्तु सत्य सच्चिदानंद परमात्मा जो बोलते हैं सच्चिदानंद आत्मा सब एक वस्तु है मात्र एक वस्तु है और कोई वस्तु है ही नहीं कार्य कारण जगत कोई है ही नहीं वास्तव में स्थिति ऐसी है वास्तविक एक ही सद वस्तु है पारिशेष सद एकम एक वस्तु सद जो एकमात्र वस्तु है एकमेवा द्वितीय जो वस्तु है सद वस्तु है अविद्या उत्पत्ति विनाशादि धर्म नटपद अनेकदा थे इति भागवतम मतम ये भगवान के मत तो यही है एक ही मात्र वस्तु है अज्ञान के कारण तत्त जीवों के अज्ञान के कारण माया के कारण उत्पत्ति विनाशादि धर्म जो उत्पत्ति धर्म विनाश धर्म उसी हद तक उसी सब वस्तु में भाषित हो रहा है वस्तु एकमात्र सत है अविद्या या अविद्या के कारण अज्ञान के कारण उत्पत्ति विनाश आदि धर्म उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों के द्वारा नटवध जैसे नाचने वाला एक नर्तक होता है नाचने वाला है पर्दे के भीतर जाता है पुरुष शरीर का है साड़ी पहन के बाहर आता है सब क्या मानते उस काल में को तो? स्त्री मानते हैं साड़ी पहन के आया अच्छा कोई जाता है भीतर से पैंट पहन के आ जाता है क्या मानेंगे पुरुष जैसे नट अनेक रूप धारण कर लेता है किसके द्वारा जो पर्दे के भीतर पोशाक के द्वारा पोशाक के स्वरूप होता है वो जैसे जैसे पोशाक पहने वैसे वैसे दिखता वो लोगों को किंतु वो एकमात्र शुद्ध वस्तु है तो पोशाक उतारने के बाद जो बचेगा अनेक प्रकार से भाषित होता है नट ठीक इस प्रकार एकमात्र सब वस्तु माया के द्वारा अविद्या के द्वारा अनेक धर्मों के द्वारा स्त्री पुरुष मनुष्य आदि संसार जितने भी हैं जड़ चेतन वर्ग में भाष रहा है पुरुष मात्र चेतन एकमात्र है एक नाचने वाले का दृष्टांत या नटवत कहा हुआ है जैसे नाचने वाला जैसे जैसे पोशाक पहन के आता है भीतर से पर्दे के भीतर से वैसे उसे स्वरूप मानता है दर्शक देखने वाले व्यक्ति वही मानता है साड़ी पहन के आया तो उसको स्त्री मानता है पैंट पहन के आएगा तो पुरुष मानता है किंतु वो स्त्री है कि पुरुष क्या है वो एक व्यक्ति है वो पोशाक के कारण उसे ऐसा दिखाई देता है इस प्रकार यहां भी माया रूपी जो पोशाक पोशाक है उसके द्वारा अनेक धर्मों से दिख रहा है एक ही वस्तु मान जीवों के अज्ञान से कल्पना है सारी है जैसे नाचने वाले के जो में अनेक कल्पना करते हैं त्रिपुर आदि की कल्पना करते हैं लोग दर्शक लोग किसके द्वारा पोशाक के द्वारा वो कपड़ों के माध्यम से होता हो कोई ऋषि बन के आएगा दाढ़ी मूछ लगा करके वशिष्ठ आदि बन के आता है लीला में दिखाते हैं कोई रावण बन गया है कोई व्यक्ति भीतर जा करके हाँ, वही विभीषण बनता है उनके पास बहुत सारे नहीं होते हैं दो चार ही होते हैं कोई अनेक रूप बराबर आगे आते हैं पोशाक के माध्यम से इसी प्रकार अज्ञानियों को तत्त रूप भाजता है है एक सद वस्तु है दृष्टांत है जैसे रज्जु पड़ी होती है अविद्या के कारण रज्जु के अज्ञान के कारण दर्शक क्या मानते सर्प आदि से मानते हैं उसको वहां भी एक ही नहीं होता सर्प मानते हैं जलधारा मानते हैं भूछिद्र मानते हैं माला मानते हैं इष्टि मानते हैं इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं लोग सारा संसार कल्पना है कार्य कारण जगत कल्पित है उसे नटबत कहा नाचने वाले के समान एक ही वस्तु में भाष रहा है एक ही वस्तु है अब अध्यारोप काल में भाषित है अपवाद काल में एकमात्र वस्तु रहेगा हम्म, यही है पारिशेष्य जब दोनों मतों का खंडन हो गया सांख्य मत बौद्ध मत आदि सब खंडन हो गया आरंभवाद आदि शून्यवाद आदि समाप्त हो गया तो पारिशेष्या परिशेष न्याय बने जो बचा हुआ है वेदांत बचा हुआ है उपनिषद एकम एवं सदवस्तु एकमात्र सदवस्तु है एक होते हैं जो हर वस्तु में सत सत सत की अनुभूति हो रही है घट सन पट सन मठ सन इत्यादि जो अस्थि अस्थि का व्यवहार होता है सारे वस्तु में वह है सदवस्तु एकदम एवं सदवस्तु अविद्या अविद्या के द्वारा जीवों के जो अविद्या है अविद्या के द्वारा अनेक भाषण जैसे वो जो दर्शक जो नाचने वाले नट होता है उसको वो जो दर्शक जो बाहर बैठे हुए हैं उसका ज्ञान नहीं है नट अमुक व्यक्ति है करके पहचान नहीं हो रहा है जैसे पोशाक पहन के आया तद्रूप में मानते हैं लोग दर्शक लोग वही मानते हैं ठीक इसी प्रकार जीवों के अज्ञान से पारिशिष्य सद एकम वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाश आदि धर्म जो उत्पत्ति विनाश आदि जो धर्म है उत्पत्ति धर्म विनाश धर्म उसी में दिख रहा है धर्म नटवत नाचने वाले के समान अनेक अधा विकल्पते अनेक प्रकार से विकल्पित होता है अनेक रूप से भाषता है एक सद वस्तु अविद्या के कारण के कारण अविद्या इति इदम भागवतम मतम उक्तम एका इस प्रकार भगवान के मत को कहा सिद्धांत को बताया कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सद यहाँ द्वितीय अध्याय में भगवान के ये सिद्धांत एक ही वस्तु है जैसे नाचने वाले को जानते नहीं लोग उसके पोशाक को लेकर के तत्त नाम दे देते हैं उस काल में ठीक सी प्रकार है यहां भी उत्पत्ति विनाश आदि अविद्या के कारण परमात्मा में दिख रहा है आई परमात्मा एकमात्र है ठीक है तो नाश तो विद्यते भाव यदि अश्विन सूर्य भागवत मतम इदम उक्तम भगवान के सिद्धांत इस प्रकार कहा भगवान ने अपने सिद्धांत बताया है सत प्रत्यय से अभिविचार देखो सत जो होता है हर वस्तु में सत भाजता है सत सत घट सन पट सन मठ सन अमुक है अमुक है अमुक है ऐसा ऐसा बोला जाता है जो हाय रूप है वो परमात्मा का अंश है परमात्मा है सब प्रत्यय है जो सदबुद्धि है ना प्रत्यय मान बुद्धि सदबुद्धि सर्वत्र अव्यविचारात कहते हैं सब प्रत्यय से अव्यविचारात सत प्रत्यय का कहीं व्यविचार नहीं होता हर वस्तु में सत सत सत लगता है अस्थि अस्थि अस्थि लगता है और व्यविचाराच इतरे शाम अन्य बुद्धि जो असत बुद्धियां जो होती है घटादि बुद्धि देखो घट सन बोला जाता घट बोला जाता सत अंश अव्य विचारी है घट के नाश होने पर भी कहां दिखता पट में दिखता वो सत कहां दिखता है पट के नाश होने पर भी मठ में दिखेगा कहां देखा मठ मठसन बोला जाएगा सत का कभी विचार नहीं होता क्योंकि जब घटबुद्धि काल में घट सन बोलते हैं उस काल में पट नहीं रहेगा क्या नहीं रहेगा पट का भी विचार है पट सन बोलोगे पट अस्थि बोलोगे उस काल में घट का भी विचार है घट नहीं वहां विशेषण बदल जाते हैं व्यभिचारी है जो विशेष सत्य है उसका कभी बदलाव नहीं है उस वस्तु के न होने पर भी वस्तुअंतर में दिख रहा कौन घट के अभाव में भी सत कहा दिख रहा है पट में दिख रहा है पास रहा है पट पटो अस्थि बोला जाता है किंतु जब घट देखा हो तो पट का अभाव है सत का अभाव नहीं है घटो अस्थि का अस्थि है हर वस्तु में देखेंगे सत का कहीं भी विचार नहीं है अस्थि अस्थि अस्थि अस्थि वही वस्तु एकमात्र सत वस्तु है उसी में सारा संसार अज्ञानी लोग कल्पना कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति नाचने वाला जो व्यक्ति होगा उसमें कई प्रकार की कल्पना कभी रावण कभी विभीषण कभी सीता कभी राधा इत्यादि कल्पना कर जाते हैं कौन दर्शक लोग उसके अज्ञान है किसका व्यक्ति का अज्ञान है लोगों को या मुख का पुत्र है करके या पुत्री है नहीं जान रहे पोशाक को लेकर के तत्त नाम दे रहे हैं इसी प्रकार एक ही सदवस्तु है तो वही नाचने वाले के समान अनेक उत्पत्ति विनाश आदि धर्म से कल्पित हो रहा है वस्तु ये, ये भगवान का मत है क्यों सत प्रत्यय का व्यविचार सदबुद्धि का कहीं व्यविचार नहीं होता हर वस्तु में सत अनुगत है तो वस्तु के अभाव काल में भी सत अन्य वस्तु में दिखेगा किंतु सत का अभाव कहीं भी नहीं है ये कह रहे एक ही वस्तु है वो सत प्रत्यय से अव्यविचारात सत प्रत्यय का प्रत्यय मानी बुद्धि सदबुद्धि का व्यविचार नहीं होता कभी हर वस्तु में सत सत लगा है एक वस्तु के अभाव में भी दूसरे में सत दिख रहा है व्यविचारात चैत शाम रहा अन्य जो अन्य जो वस्तु है जहां सत लगता था सत का जो विशेषण बनते थे घट आसन पट आसन बोलते थे तो उसका व्यविचार देखा है घटबुद्धि का व्यविचार है सदबुद्धि का नहीं है क्यों पटबुद्धि काल में घटबुद्धि नहीं है उसका भी विचार है किंतु सत्य का भी विचार नहीं है अब प्रश्न होता है कथम तर ही आत्मनो अभिक्रियत्व अशेषता कर्म त्यागो यह प्रश्न होता है आत्मा यदि अभिक्रिय है आत्मा एक सत वस्तु है अभिक्रिय है विक्रिया रहित है उसी में सारी क्रिया की कल्पना होती बोला तो प्रश्न आए कथम तरी तब महाराज ये कैसे हो सकता है आत्मा अभिक्रियत्व आत्मा बेकार युक्त नहीं है विक्रिया का अभाव है आत्मा में तो अशेषद कर्म त्याग को कथम न थे फिर संपूर्ण कर्म का त्याग क्यों नहीं हो सकता आत्मा यदि विक्रिया रहित है तो सारे कर्म का त्याग क्यों नहीं हो सकता फिर भगवान ने क्यों कहा कि सहजम कर्म कौन थे सतोषम बैठा थे क्यों कहा कर्म करने को बोल रहा है तो आत्मा यदि अभिक्रिय स्वभाव है आत्मा का स्वभाव तो सारे कर्म का त्याग क्यों नहीं हो सकता ये प्रश्न उठा प्रश्न यही है आत्मा यदि अभिक्रिय स्वभाव है तो अशेषता कर्म त्याग और कथम नोपद्य थे फिर संपूर्ण कर्म का त्याग क्यों युक्ति संगत नहीं है जब क्रिया नहीं है वहां संपूर्ण कर्म का त्याग कर सकता फिर सहजम कर्म को दिया सतोषम बने तो क्यों कहा कर्म को क्यों लगाया ये प्रश्न है तो सिद्धांत बोलते कौन सी आत्मा को लेकर बोल रहे हो भाई देहादि विशिष्ट आत्मा को लेकर बोल रहे हो या देहादि रहित आत्मा को लेकर आत्मा शब्द का प्रयोग कहां कर रहे हो तुम यदि देहादि विशिष्ट आत्मा लेते हो तो सहजम कर्म कौन थे सतो समझ से वो लगेगा और देहादि से मुक्त आत्मा हो देहादि से ऊपर स्थिति पर पहुंचा वह कर्म की बात ही नहीं वहां ये कहना चाहते हैं भगवान ये उत्तर देना चाहते हैं भाष्यकार ये बोलना चाहते हैं यदि वह वस्तुभूता गुणा यदि वह विद्या कल्पिता देखो भाई यह गुण शब्द का था गुणों का कार्य तीनों गुणों का कार्य शरीर इंद्रियादि हैं या गुण शब्द से लिया हुआ है यहां जो भाष्य में गुण शब्द दिया हुआ है मान कारण रूप गुण नहीं कार्य रूप गुण जो इंद्रिय संघात यदि वस्तु बता यदि वास्तविक हो तो संसारी लोग इसको वास्तविक मानते हैं शरीर आदि को यदि वस्तुभूता गुण हाँ, वास्तविक हो गुण माने कार्य संघात कार्य माने कार्य रूप गुण है या सत्वादि गुण का जो कार्य है देहेन्द्रियादि यदि वह अविद्या कल्पिता यदि अज्ञान से कल्पित हो ये गुण गुण माने कार्यकर संघात माने कार्यक्रम संघात को चाहे वस्तुभूत मानो वास्तविक मानो चाहे अविद्या के द्वारा कल्पित मानो कार्यक्रम संघात है शरीर है शरीर इंद्र पुंज तद धर्म कर्म उसका धर्म होगा कर्म कार्यक्रम संघात क्या करेंगे कर्म करते हैं तद धर्म कर्म उसी का धर्म है कर्म आत्मा का धर्म तो है ही नहीं कर्म शरीर इंद्रिया आदि का धर्म होता है कर्म तद धर्म कार्यक्रम संघात जो गुणों को जो कार्य है संघात तत्पद से संघात को लेना है समुदाय को लेना उसका धर्म होता है कर्म तदा तब माने इसको चाहे कल्पित मानो चाहे वास्तविक मानो शरीर इंद्र आदि को उस स्थिति में तदा आत्मनि अविद्या अध्वारोपितम एवं इति अविद्वान कहते हैं उस स्थिति में क्या होगा आत्मा में उस धर्म को आरोप करता है अज्ञानी क्या करता है शरीर इंद्रियों के धर्म को अज्ञानी पुरुष अपना स्वरूप में नहीं पहुंचा इसमें तादात्म्य करके बैठा है वो शरीर इंद्रियों का जो धर्म है कार्यकरण संघात का धर्म को अपने में आरोप करता है वो कर्म को इनके द्वारा होने वाले जो कर्म थे शरीर इंद्रियों के द्वारा वो कर्म को मेरा कर्म है ऐसा समझता है मैं करता हूं समझता है कौन अज्ञानी आत्मा ये कहा यदि यदि वस्तुभूता गुणा यदि वास्तविक हो कार्यक्रम से कहा चाहे वास्तविक हो चाहे अविद्या के द्वारा कल्पित हो कार्यकर्ण संघात ये गुण माने संघात है यहां तद धर्म कर्म उसके धर्म होगा कर्म किसका कार्यक्रम संघात का चाहे अविद्या से युक्त हो चाहे वास्तविक हो उसके कर्म उसी का होगा किसका शरीर का शरीर इंद्रियों का है तद वो कर्म तद मान तत्कर्म शरीर इंद्रियों का जो कर्म है उसको आत्मने अध्यारोपितम एवं इति अविद्वान आत्मा में अध्यारोपित है अविद्वान के द्वारा अविद्वान जो होता है अज्ञानी जो होगा अपने स्वरूप को नहीं जानता शरीर में बुद्धि करके बैठा है वो क्या करता है आप अपने में आरोप करता है वो अज्ञानी के द्वारा अपने में आरोप किया जाता उन कर्मों का शरीर कर्म का आरोप करता है मैं करता हूं मानता है इसलिए सहजम कर्म कहते हैं सतोषम रवित कहा हुआ है अज्ञान अवस्था की बात है हम्म। क्यों जो अज्ञान अवस्था में क्या माना नई का शिक्षण में तृतीय अध्ययन बोल के आए नई का शिक्षण में भी जातु कर्म कर्मकृत अज्ञान अवस्था में उस दिन पर कुछ कर्म किए बना रह नहीं सकता क्यों शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है वो तो शरीर आदि के होने वाले कर्म को अपना कर्म मानता है वो इसलिए उसको एक क्षण भी चुपचाप नहीं रह सकता कहा था तृतीय अध्याय नहीं कश्य क्षण में भी अशेषता त्यक्तम सक्रोध उत्तम हाँ त्यक्तुम अशेषत कहा ना उसी श्लोक का है नहीं कैसे क्षण में तो त्यक्तुम कर्माण्य शेषत कहा अशेषक कर्म को त्यागना संभव नहीं है कोई भी एक क्षण भी नहीं कर सकता कहा था अज्ञान अवस्था से जो आत्मा होगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा हो शरीर में आत्मा लेके बैठा हुआ आत्मा हो उसके लिए तो कर्म है इसलिए भगवान यहां भी कहा भगवान ने कहा सहजम कर्म पहुंचते सुनते जाते विद्वास तो यदि विद्वान है शरीर आदि से अपने को पृथक किया हुआ जिसने हम सच्चिदानंद आत्माष्टमी बुद्धि में पहुंचा हो हम ब्रह्माष्ट विभाग में हो वो विद्वान विद्वांस तो विद्वान तो पुनर् विद्या अविद्याम निवृत्तायाम वो क्या कर रहा विद्या ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश करने पर विद्या अविद्या विद्या अविद्याम निवृत्तायाम विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति करने पर विद्वान की स्थिति क्या होती है जब विद्या ज्ञान के ज्ञान रूपी साधन से अज्ञान का नाश करने पर ज्ञान कौन आत्मज्ञान शक्नोती एवं अशेष कर्म परित्यक तुम संपूर्ण कर्म का त्याग सकता है वो कौन क्यों तो शरीर और इंद्रियों में होने वाले जो कर्म है वही रखता है अपने पास नहीं लाता अपने को अलग कर दिया उसने अपने को पृथक किया हुआ होता है अज्ञानी शरीर इंद्र में होने वाले कर्म अपना कर्म समझता था उस काल में तो कर्म करना ही हो सकते माने शरीर में आत्मबुद्धि जब तक कर्म करना है कोई उन्नति का साधन वही है वही कर्मों के द्वारा बुद्धि शुद्धि होगी बुद्धि शुद्धि के आगे काम चलेगा यदि देहादि भाव से पृथक आत्मभाव गया है विद्वान वो है विद्वांस तो पुनः विद्या अविद्याम निवृत्ता विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति करने पर होने पर शक्नोति एवं शेषता कर्म परित्यक तुम अविद्यारोपित कर्म ने कहा माने संपूर्ण कर्म का परित्याग किया जा सकता उसके द्वारा विद्वान के द्वारा विवेकी हो गया आत्मा में आत्मबुद्धि है जिसकी शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है क्यों अविद्या के द्वारा आरोपित कर्म थे कैसे कर्म थे दूसरे का कर्म दूसरे में आरोप किया था शरीर आदि के कर्म थे शरीर इंद्रों का कर्म को आत्मा में आरोप किया था शेष अनुपत्ति एक एक भी शेष नहीं बच सकता हाथ में जीरो आएगा उसका कुछ बच नहीं सकता शेष नहीं रहेगा शेष अनुपत्य शेष होने बचने की संभावना नहीं होती ख्याल कोई कर्म शेष नहीं रहेगा उसको विद्वान को तो क्यों ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया उसने तो दूसरे का कर्म दूसरे में दिखेगा ये कर्म शरीर आदि का है मेरा नहीं है ऐसा समझ रहा हूं नहीं तैवरिक दृष्टिया रूप से द्विचंद्र आदेश तिमिरा अपगवे शेषो अवतिष्ठ कर देखो दृष्टांत देते हैं जो तिमिर रोग लग गया किसी को आंख में लग गया तो चंद्रमा दो दिखने लग गया एक वस्तु तो दो दिखने लग जाता उसको तिमिर रोग है आंख का रोग है नहीं तैवीर का दृष्टिया जो तिमिर रोग से युक्त को तैवीर कहा व्यक्ति को उसके दृष्टि से जो तिमिर रोग से युक्त व्यक्ति है उसके दृष्टि से अध्यारोपित दुई चंद्रादि उसने आरोप दिया था एक चंद्रमा में दो चंद्रमा के आरोप किया था चंद्रमा दो होते मानता मान्यता आ गई थी तिमिर रोग के कारण किस रोग के कारण तिमिरा गए दवाई किया तिमिर रोग हट गया अब वो रोग हट गया अब कितना चंद्रमा मानता है एक चंद्रमा तो शेष हो नवतिष्ठते नहीं है ना पूर्व में तिविर रोग जाने पर उस चंद्रमा का शेष नहीं बच सकता दो तीन चंद्रमा नहीं रह सकते ठीक इसी प्रकार यह तो दृष्टांत है ठीक इस प्रकार आत्मज्ञान होने पर आत्मा में आत्मबुद्धि होने पर शरीर आदि में होने वाले जो कर्म थे शरीर आदि में होने वाले कर्म को अपने में एक विशेष नहीं रखता कोई कर्म होता ही नहीं वहां ये दृष्टांत से बताया एवं से सती इस प्रकार होने पर जब आत्मा में आत्मबुद्धि है शरीर से आत्मबुद्धि पृथक हो गई है एवं सती इदम वचनम उपपन्नम ये वचन पंचम अध्याय में कहा वचन सिद्ध होता है पंचम अध्याय भगवान ने कहा था सर्व कर्माण वर्षा संन्यास सुखम बसी नवद्वारे पूरी देही नैव कुरबंधकार ने कहा था सर्वकर्म मनसा संन्यास आस्ते कहा मन के द्वारा त्याग करके बैठा हुआ था तो सारे कर्मों का हम्म। जो दित्य नैवित काम है सारे कर्म त्याग प्रतित्य सब कर्म त्यागा हुआ था उसका ये मेरे में कर्म नहीं है ये बुद्धि में पहुंचा हुआ है वो कर्म कहाँ है जो नित्य नैवित काम में प्रतित्य कर्म है कहाँ है शरीर आदि में शरीर आदि में है मेरे में नहीं है इस बुद्धि में है वो इसलिए सर्व कर्म सारे कर्म कोई यहां नित्य कर्म भी नहीं रखा सारे जितने भी कर्म चार प्रकार के कर्म की चर्चा है नित्य कर्म नैवित्य कर्म काम्य कर्म प्रतिहित कर्म किसी प्रकार कोई कर्म भी सर्वा सर्वकर्माणी मनुषा संयस्य सारे कर्म मन से ही त्याग करके मेरे में नहीं है ऐसे वृत्ति बनाकर संयस्य आस्ते सुखम वसिका चुपचाप रहता है कहा नवद्वारे पूरे आस्ते यही नवद्वारे पूर्व है अभी कैवल्य मुक्ति में नहीं जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा हुआ है किंतु शरीर से अपने को पृथक किया हुआ है विचार से शरीर से अपने को पृथक किया हुआ है है तो नवद्वार रूपुर में जो अवतार वाला जो पूरे शरीर है ऊपर सात दरवाजे ऊपर होते हैं दो नाक का क्षेत्र है दो कान का क्षेत्र है दो आंख के क्षेत्र है एक मुख का क्षेत्र है सात हो गए नीचे दो है मलपुत्र आदि वाला क्षेत्र नवद्वार का इसको इसी में है नव दरवाजा वाला शहर में बैठा हुआ होता है यही है किंतु सारे कर्म को त्यागा हुआ है क्यों उससे वो आत्मज्ञान भाव में है ज्ञानावस्था में है ये कर्म शरीर आदि में है शरीर शरीर आदि मेरे में नहीं है ये बुद्धि है उसकी कहा इत्यादि कहा इत्यादि वचन युक्ति संगत है उस स्थिति में और अज्ञानी के लिए कहा क्या कर्मणी कर्मणि स्वयं कर्मणि अविरता समसिद्ध हैं तरह इत्यादि कहा अपने में कर्म जो अपने हिस्से में आया हो कर्मा वर्णाश्रमित कर्म अज्ञान अवस्था में जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक स्वे स्वे कर्मणी अपने अपने कर्मों में चारों वर्ण अविरत लगे हुए हैं संसिद्धि में हैं नर नर संसिद्धि में लगते सम्य प्रकार ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है कहा ये अष्टादश अध्याय कहा स्वकर्म निरता सिद्धि में यथा बिंदुता अपने कर्म में निरंतर लगने से जो सिद्धि होती है सुनो करके पहले कहा था ये और यत प्रवृत्ति भूतानाम एक सर्वविद तम स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विद्यमान वही भी कहा इसी अष्टादश अध्याय में जिससे सारे की प्रवृत्ति हो रही है जिससे जिस परमात्मा से सारे संसार की प्रवृत्ति होती है यतः प्रवृत्ति भूतान जिससे प्रवृत्ति है ये न सर्वमित्रम जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है जैसे मिट्टी से घटादि पदार्थ व्याप्त है कपास से सारे वस्त्र व्याप्त है सोने से जितने आभूषण होते हैं व्याप्त हैं लोहे से जितने औजार होते हैं व्याप्त हैं लोहा नहीं है ऐसा आभूषण नहीं है तो इस तरह से व्याप्त देख रहा है ईश्वर से व्याप्त देख रहा ये न सर्वगुण तदम स्वकर्मा तमदर्च अपने अपने कर्म के द्वारा उसकी अर्चना करके जिससे सारे संसार की प्रवृत्ति हो रही है और जो सारा संसार में व्याप्त है उस अपने कर्म के द्वारा उस वस्तु की पूजा करके सिद्धिम बिंदती मानवा का मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है क्या सिद्धि ज्ञान लक्षणा योग्यता सिद्धि जिसके ज्ञान लक्षण ज्ञान होगा आगे आत्मज्ञान होगा वो सिद्धि प्राप्त करता है योग्यता आदि ज्ञान ज्ञान होने के लिए शक्ति आ जाती है योग्यता आ जाती है तब अपने कर्म के द्वारा ये कहा हुआ है ये भी सिद्ध हो जाता है कहा तो ये माने आत्मा में कर्म है भी नहीं भी है दो प्रकार यदि शरीर आदि में आपको बुद्धि करके बैठा हुआ अज्ञान अवस्था में तो कर्म है बलाश्रम विहित कर्म है उसके लिए यदि शरीर आदि में आत्मबुद्धि का अभाव है शरीर आदि का कर्म शरीर में छोड़ के बैठा हुआ हो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो उसके लिए कर्म हो नहीं सकता वहां आत्मा कर्म कर नहीं सकता यही है तो पूर्वादि ने कहा था सारे कर्म त्यागा जा सकता है तब तो ये कहा था तो कहने पर सिद्धांत कहा कौन सी आत्मा की चर्चा कर रहे हो देह विशिष्ट आत्मा या देह से अतिरिक्त आत्मा देह विशिष्ट आत्मा के लिए कर्म तो है अज्ञानी है उस काल में अज्ञान है वो अज्ञानी है तो अज्ञानी के लिए कर्म है और ज्ञानी जो होगा उसके क्या उसके पास विद्या है ज्ञान रूपी शक्ति सामर्थ्य है तो उसके द्वारा अविद्या नाश हो जाने पर सक्रोत ये वशेषता कर्म तक तुम कहा था सारे कर्म त्यागा जा सकता वहां कोई कर्म नहीं रहेगा आत्मभाव में आत्मा पर पहुंचने वक्त कर्म का नाम निशान नहीं है ये ज्ञानी अज्ञानी में जब तक ज्ञान में अपने बर्दाश्त वित्त कर्म करेगा ये श्लोक में कहा हुआ है साहजम कर्म कौन देगा ये कहा गया ठीक है देखना है एकस्य अनेक विधि कल्पना अनुपत्ति में आशक है माना एक व्यक्ति अनेक कैसे होगा नथवत अनेकदा विकल्पते बोल दिया परमात्मा एक ही है सृष्टि के काल में सृष्टि पूर्व काल होता है तो फिर मान एक नाचने वाले के समान अनेक प्रकार से विकल्पित हुआ तो, तो परमात्मा अनेक रूप में दिख रहा बोलते हैं तो कैसे हो सकता है ये कहने ये प्रश्न आया वास्तविक तो माया से हो जाता है किसके द्वारा माया से जैसे हम कांच महल में जाते हैं हम अपने शरीर को अनेक देखते हैं क्या देखते हैं कितने शरीर है वो वास्तविक शरीर एक है जो दरवाजे से भीतर जा रहे थे एक शरीर था वहां अनेक दिखता है और कांच के जो माध्यम से कैसे कैसे कांच डले हैं कहीं छोटा शरीर देखा कहीं पड़ा देखेगा कोई कुछ देखेगा कोई कुछ देखेगा वो कांच की महिमा ऐसी है इसी प्रकार यहां अज्ञान की महिमा से एक में अनेक देखा जाता है अज्ञान की महिमा है ये एक कहा था वास्तव में कहा था एकम एवं वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाशाद धर्म अनेकधा विकल्प थे यही था भगवान के मत यही था कहा एक ही वस्तु है अज्ञान के द्वारा उत्पत्ति विनाश आदि जो धर्म है उसके द्वारा अनेक रूप से भाषता है जैसे नाचने वाला का नटबद्ध ये दृष्टांत दिया नाचने वाले के समान जैसे जैसे पोशाक पहनता है व्यक्ति पोशाक को ही व्यक्ति समझ जाते हैं वास्तविकता का ज्ञान नहीं है तो इसी प्रकार यहां भी है अविद्या के द्वारा अनेक दिखना भ्रांति से होना यही है एक कहा था टीका में कहते अस्या भी मतस्या भगवान मत मत अनुरोधित्वा भावात अवशिष्टा त्याज्या आशंका अविद्या के द्वारा नाथ ज्ञान अस्या भी मत से जो मत है हम्म। नटवत ये मत दिया ये मत भगवान मत अनुरोधित्व अभाव भगवान के मत का अनुरोधित्व है नहीं ऐसे होने से अविशिष्टा त्याज्यता ये भी त्याग नहीं चाहिए अभी न तो अनेकदा विकल्प एक ही सदवस्तु ये भगवान ऐसे तो मानते नहीं पूर्वादि की संख्या भगवान ऐसे भगवान की मान्यता ये नहीं है कि एक ही वस्तु अनेक रूप में होता हो ऐसी मान्यता है नहीं तो ये भी त्यागना चाहिए फिर शंका आगे तो कहा नहीं इति इदम भागवतम मतम कहा यह मत भगवान का मत है एक ही सदवस्तु है वास्तव में सदवस्तु है अविद्या से अनेक प्रकार से भाषित होता है उक्तम भी भगवान मतम विसर्जयती कहा भगवान भी तो मत था ना ना सतो विद्युत भाव ना भावो विद्युत सत इत्यादि तो उसी को विस्तार करते सत प्रत्यक्ष से हो गया सदबुद्धि का व्यविचार नहीं होता यही है जो सत सत सत सर्वत्र लगा हुआ था घट अस्थि पटो अस्थि पटो अस्थि अस्थि अस्थि तो अस्थि का व्यविचार नहीं होता एक का वस्तु का अभाव होने पर वो अस्थि दूसरे में दिख रहा है घटो अस्थि बोल रहे थे घट नहीं है वो अस्थि पट में दिखेगा पटो अस्थि बोला जाता है किंतु जब पटबुद्धि हो जाती तो घटबुद्धि नष्ट हो जाती ये सब नाशवान है विशेषण जो लगे हैं घटासन पटसन आदि में तो विशेष सदवस्तु है उसका कभी भी अभाव नहीं होता सद एकम एक वस्तु से आप सद एक वस्तु ही होता है ये शेष लगाना कहा शाम विकार प्रत्याणाम बद अर्थ विचारात अविद्या तदेव सदवस्तु अनेकदा विकल्प देते करें सदवस्तु का व्यविचार होता है कहा था और असद वस्तु का व्यविचार होता है बोला इतर शाम असद वस्तु ना जो घट आदि में देख रहा घट और पट आदि देखो सत दोनों में थे घट के नाश होने पर भी अस्थि का नाश नहीं कहा अस्थि पट में है पट का नाश होने पर भी अस्थि का नाश नहीं है घटो अस्थि इत्यादि चलता है तो दूसरे का व्यविचार हो रहा जब पट ज्ञान काल में घट घट नहीं है घट ज्ञान काल में पट नहीं है घट बुद्धि काल में पट बुद्धि नहीं है पट बुद्धि काल में घट बुद्धि नहीं है अस्तित्व दोनों में है तो ये कहा हुआ है इतर ऐसा हम जो अन्य है सदबुद्धि से अन्य बुद्धि असदबुद्धि व्यविचार वाली बुद्धि जो है जो घटपट पदार्थ है वस्तु है क्या है जिससे उसे सब लगा हुआ होता है इतर ऐसा विकार प्रत्याराम जो विकार है विकार का ज्ञान होता है किसका सत सत का नहीं विकार का ज्ञान विकार मैंने कार्य वर्ग जो घट पट आदि जो ज्ञान होता है बुद्धि होती है रजता यही बात कर रहे हैं जैसे रजत बुद्धि हो गए थे किसमें सिप्पी के टुकड़े में रजत आदि बुद्धि हो गई थी अर्थक में विचार कर जाता वो ज्ञान किसका विषय का भी विचार करता है ज्ञान में भी विचार नहीं है पहले रजत बुद्धि थी आगे जाकर के सुक्ति बुद्धि हो जाएगी बुद्धि में विचार नहीं है विचार किसमें है वस्तु में पहले रजत बुद्धि थी अब सुक्ति बुद्धि में चला गया अर्थ में विचार है ज्ञान में विचार तो नहीं अर्थ में विचार है विषय में विचार है एक दूसरे बुद्धि होने पर दूसरे वस्तु का अभाव हो जाता है अर्थ में विचार ये कहते हैं इतरेशा विकार प्रत्यानाम जो व्यविचार होता है ना कहा अन्य जो घटपट आदि पदार्थों में व्यविचार होता है रजतादि ही वत जैसे रजतादि बुद्धि के समान जैसे रजत बुद्धि हो गई थी सिप्पी के टुकड़े में जल बुद्धि हो गए थे मरुभूमि में सर्प बुद्धि हो गए थे रज्जु में वो बुद्धि नष्ट होगा सर्प बुद्धि नहीं रहेगी ज्ञान काल में आगे हाँ, सुक्ति के ज्ञान काल में रजत बुद्धि नहीं है ये व्यविचार है अर्थ का व्यविचार किसका विषय का विचार ज्ञान का विचार तो नहीं है हाँ, ज्ञान तो घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट ज्ञान काल में भी ज्ञान है किंतु घटपट का व्यविचार है पर्सन अर्थ विचार आप अविद्या तदेव सदवस्तु अनेकदा विरोध इसलिए अर्थात वही अविद्या के कारण वही जो छत वस्तु है जो एक द्वितीय वस्तु था सदैव सौम्यम क्रियाशित एक द्वितीय सत वस्तु है वही अनेक प्रकार से विकल्पित होता है विद्या के द्वारा व्यविचारा चैतन्य कहा था अन्य वस्तु का व्यविचार होता है सदबुद्धि का व्यविचार नहीं है इतिवतम श्लोके दर्शनम इतिवतम भगवान ने अपने श्लोक में दिखाया ना सतो विद्य भावो ना भावो विद्य सत में दिखाया आत्मा अभिक्रिय अभिक्रियत्व भगवता इष्टम आत्मा के यदि अभिक्रिय भगवान इष्ट को इष्ट है भगवान मानते हैं आत्मा अभिक्रिय है कोई विकार नहीं होता यदि ऐसा है तो तभी सर्वकर्म परित्याग उपत्य फिर तो सारे कर्म त्याग हो ही जाता है फिर सहजम कर्म कौन थे सतोषम करते क्यों कहा यहां भगवान ने भगवान के यदि मत यही इष्ट है सारे कर्म आत्मा में कोई कर्म नहीं है ऐसा मानते हैं भगवान फिर कर्म करने को क्यों कहा सहजम कर्म कौन दे सतोषम बिना त्यजेत इत्यादि क्यों कहा ये प्रश्न उठता है तो परित्याग उपत्ति सिद्ध होने से सहज से आदि कर्म त्याग सिद्धि सहज कर्म जो मान जन्म के साथ साथ प्राप्त जो कर्म है तेरे भी इत्यादि कर्म उसका भी त्याग की सिद्धि है क्यों भगवान यदि मानते हैं आत्मा में कर्म नहीं है तो, तो जन्मजात जो कर्म होंगे उसके भी त्याग ना संभव है फिर कर्म करने को क्यों कहा यहां यदि थे ऐसा शंका पूर्वाजी बोलता है तो ये शंका करता है कथम तरी आत्मा अभिक्रियत्व अशेषता त्याग देती थी फिर महाराज जब आत्मा अभिक्रिय सिद्ध है नाश दोपित थे बाबू के द्वारा कहा ये आत्मा ऐसा है तो फिर सारे कर्मों को त्याग क्यों नहीं हो सकता आत्मा में ये प्रश्न उठा तो उत्तर क्या देंगे कौन सी आत्मा की चर्चा कर रहे हो तुम देहादि विशिष्ट आत्मा अथवा देहादि रहित आत्मा देहादि रहित आत्मा में कर्म होना संभव नहीं है अध्यादि विशेष भाव में माना हुआ आत्मा को तब कर्म किए बना रह नहीं सकता अज्ञान अवस्था में यदि है ये कहना है यही है ठीक है हम कहते किम कार्यकारणात्मनाम गुणानाम नाम कल्पितान व कर्म धर्मत्व इष्टम द्विधापि विशेष कर्म त्यागो विदुषो विदुषो वा नाद्य इत्याह ये प्रश्न सिद्धांत बोलते हैं आप पूर्वादि ने शंका थी ना आपका अभिक्रिय स्वभाव होते सारे कर्मों को त्याग क्यों नहीं हो सकता फिर सहज कर्म को क्यों रखना यहां तो सिद्धांत बोले क्यों कार्यकारणात्मनाम गुणानाम अकल्पितानाम कल्पितानाम बा कार्यकारण स्वरूप जो गुण है हमारे गुणों का कार्य है जो गुण का है ये तीन गुणों का कार्य है शरीर इंद्रिया आदि आत्मा निर्गुण गुण ही वहां तो कार्यकारणाम कार्य होता है और कारण कार्य कारण रूप जो गुण है इनका अकल्पिता नाम जो यदि यदि वास्तविक मानो इनको अकल्पित मानो शरीर इंद्रियों को कल्पितानंद नाम अथवा कल्पित मानो दोनों स्थिति में ये शरीर इंद्रिया आदि चाहे कल्पित हो चाहे अकल्पित हो ये गुण है गुणों का कार्य उनसे गुण कहा कर्म इनका जो कर्म है देह इंद्रियादि का कर्म है धर्मत्व निष्ठम धर्म रूप से माना जा, माना जाता हो यदि यहां आत्मधर्म माने शरीर का कर्म ये माना जाता है द्विधाती दोनों प्रकार से चाहे कल्पित मान के करो चाहे अकल्पित मान के करो शरीर आदि कल्पित हो चाहे अकल्पित हो इनका जो कर्म होगा धर्मत्व निष्ठम द्विधादि दोनों प्रकार निश्चेष कर्म त्याग हो जो संपूर्ण कर्म का त्याग शरीर आदि से होने वाले जो कर्म है ये जो कर्म का संपूर्ण त्याग अविदेशों विदेशों पर वो किस पर अज्ञानी को है कर्म का त्याग की ज्ञानी को है माने ज्ञानी माने शरीर आदि से पृथक आत्मा में आत्मबुद्धि हो रखा जिसकी अज्ञानी माने शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो रखी जिसकी तो किसके कर्म का त्याग किसको कहा तुमने क्या त्याग हो सकता है करके तो नाद्य अविदुषो न आद्य अविदुष अज्ञानी देहादि देहा इंद्रियादि के होने वाले कर्म को अज्ञानी त्याग नहीं सकता क्यों वहां पर एकता करके बैठा हुआ है मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ है मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं स्त्री हूं पुरुष हो लिए बैठा हुआ है वास्तव में आत्मा कोई स्त्री पुरुष ब्राह्मण आदि नहीं होता तो उस स्थिति में कर्म त्यागना संभव नहीं है कर्म त्यागने से उल्टे हानि होगी बर्दाश्रम विहित कर्म करने से आगे जाकर के उन्नति के साधन होगा क्योंकि ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाएगी वो कर्म के आधार पर स्थिति है नाद्य अज्ञानी का तो त्यागना संभव नहीं देहादि के द्वारा निवृत्त होने वाले कर्म का यदि इत्यादि कहा यदि वस्तुभूता गुण गुण मान यहां कार्यक्रम संघात यदि वास्तविक हो यदि अविद्या कल्पित या अज्ञान से कल्पित हो जो भी हो अज्ञान तो उसको आत्ममान हुआ होता है तद धर्म कर्म उसका धर्म क्या होगा देह आदि का कर्म धर्म कर्म धर्म माने कर्म उनके कर्म है ये जो जो कर्म होगा इष्टान से कर्म तत् वो कर्म आत्मा ने अविद्या अध्यारूपितम एवं आत्मा में अज्ञान से आरोपित है अध्यारोपित अविद्वान आरोप करता ही अज्ञानी वहां मैं ही कर्म करने वाला हूं मेरा कर्म ऐसे मानता है न नहीं कश्य क्षण में कहा हुआ है एक क्षण भी बैठने सकता कहा है कुछ किए बिना तृतीय अध्याय में अशेषता त्यक तुम न सकती है ना पूर्व में संपूर्ण कर्म का त्यागना संभव नहीं उसके लिए कहा है यदि इंद्रियादि के कर्म को अपना कर्म मानता हो जो उसमें तादात्म करके कहा हुआ टीका में कहते हैं अविद्या आरोपितम एवं गुण शब्द कार्यकर्ण द्वारा कार्यकर्ण आरोप द्वारा कर्म विशेष मैंने मतलब अविद्या के द्वारा आरोपित कर्म है कर्म क्या है व्यादि के कर्म को अपने में आरोप करना है गुण शब्द से कार्यकर्ण आरोप द्वारा गुण शब्द से कहा गया यहां पर कार्यकर्ण को शरीर इंद्र को कहा गुण शब्द के द्वारा यह भाष्य में तो वह उसके द्वारा आत्मा में आरोपित है कर्म क्यों सीधा सीधा वो कर्म देहादि कर्म को आत्मा में नहीं लाता शरीर में तादात्म्य कर जाता उसके माध्यम से उस कर्म को अपना मानता है शरीर में एकता करता है पहले अज्ञान के फलस्वरूप उसके बाद उसके कर्म को अपना कर्म मानता है सीधा सीधा कर्म मेरा है नहीं मानता शरीर में एकता करने के पश्चात करता है देह आदि का आरोप अपने में करेगा पहले उसके बाद कर्म का आरोप करता है मैंने धर्मी आरोप के बाद में धर्म आरोप पहले धर्म में एकदा करेगा देह इंद्रिया आदि कर्म करने वाले धर्मी है वो कर्म के धर्मी है उसके बाद धर्म का आरोप यह ज्ञानी ऐसा करता है द्वितीय प्रत्यय दूसरा तो विद्वान त्याग त्याग ने कहा अज्ञानी को कहा ज्ञानी को कहा अज्ञानी तो त्याग नहीं सकता किंतु ज्ञानी के लिए कहते हैं विद्वास्तु कहा था विद्वास्तु पुनः जो ज्ञानी है अपने को शरीर से पृथक करके बैठा है मैं शरीर नहीं हूं इंद्रिय नहीं हूं इस भावना में है पुनर्विद्या अविद्या निवृत्तायाम सपने देव अशेषतः सर्वत्य तुम कहा था फिर ज्ञान के द्वारा अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो गया तो अज्ञान का शरीर आदि उसी दृष्टि से पृथक है मैं अलग हूं भावना है स्थिति में सारे कर्म का उसके द्वारा त्याग होना संभव हो परित्याग किया जा सकता उसे अविद्या अध्यात्मिक कर्म कैसे थे अज्ञान द्वारा आरोपित थे वो कर्म का शेष अनुपति एक भी कर्म नहीं रह सकता उसके साथ इसलिए तो भगवान ने सर्वकर्माणी कहा हुआ है इत्यादि ठीक है तामेव अनुपत्ति में दृष्टांत है वहां कर्म नहीं हो सकता ज्ञान होने के बाद में कर्म नहीं हो सकता देहा इंद्रियादि के कर्म को वही दिखता है उसको यही कर्म कर रहे दिखता है उसको इंद्रियाण इंद्रियार्थेशु वर्तन धारण है गुणागुण गुणागुणेश वर्तन है गुण ही गुण में रहते हैं ये विषय रूपी गुण है एक गुण का कार्य है विषय रूपादि विषय और इंद्रियादि भी गुण गुण के कार्य है एक गुण दूसरे रह रहा है ऐसा समझता वो मेरे में कर्म नहीं समझता वही उसमें कर्म न होना तामे को अनुपत्ति जो कर्म का अभाव होना उसी को ही दृष्टांत प्रसिद्ध कैसे तिमिर रोग लगने पर एक चंद्रमा को दो चंद्रमा मानता था तिमिर रोग हटने के बाद में एक जो चंद्रमा एक ही में रह जाता वही दो चंद्र दृष्टि समाप्त हो जाती उसकी ठीक इसी प्रकार यहां भी है अज्ञान के कारण दुई चंद्रमा दिख रहा है और ज्ञान होने पर एक चंद्रमा सिद्ध होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा में आत्मबुद्धि में जाने पर कर्म होना संभव नहीं है जब तक आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं शरीर आदि इंद्रिया आदि में आत्मबुद्धि है तब तक उनके कर्म को अपने में आरोप करता है वहां कर्म होगा वहां पर कर्म छोड़ना संभव नहीं है क्यों कुछ न कुछ कर्म किए बना रह नहीं सकता कहीं गलत कर्म न कर जाए हम्म। कहीं प्रतिषिध कर्म में न लग जाए कम से कम सहज कर्म को करने से उसकी उन्नति होगी भविष्य में आत्मज्ञान के लिए योग्यता आ जाएगी तो करें यही है ठीक है मैं कहते हैं आगे विदुषो अशेष कर्म त्यागे पांचम एकम अभी बाचो बचो अनुकूलम इत्या कहते हैं ज्ञानी को जो अशेष कर्म त्यागने में आत्मा में आत्मबुद्धि है जिसकी वो ज्ञानी विद्वान है उसमें संपूर्ण कर्म के त्याग में पांच पंचम अध्याय में होने वाले को पांच क्रम पंचम अध्याय आया सर्वकर्माणी मनसा संन्यास्ते सुखम बसी द्वारे पूरी रही नव कर्म न पंचमे भवम पांचमे कम पंचम अध्याय में होने वाले को पांचमे कहा वो श्लोक है पांचमे श्लोक है सर्वकर्माणी मनसा ये वचन भी भगवान के वचन भी अनुकूल है विद्वान सारे कर्म त्याग सकता है एवं इत्यादि कहा हुआ था भाष्य में एवं चती इधम इदम वचनम उपन्नम ऐसा मानने पर सारे कर्म का त्याग हो सकता है मानने पर ये ये वचन भी कथन युक्तिसंगत होता है कौन सर्वकर्म से इत्यादि कहा ठीक है कहते हैं अविदुषा सर्वकर्म त्याग अयोग्य च प्रकृत अध्यायस्तम वाक्य अनुगुण यदि अज्ञानी को संपूर्ण कर्म के त्याग में अयोग्यता अयोग्यता नहीं है कुछ किए बिना रह नहीं सकता कहीं प्रतिष्ठित कर्म करने लग जाए इसलिए इसी अध्याय के श्लोक दिया भगवान ने क्या दिया स्वयं कर्म वेदता इत्यादि है ये कहा सर्वकर्म त्याग अयोग्य अज्ञानी को संपूर्ण कर्म के त्याग में अयोग्यता में प्रकृत अध्यायस्तम एवं वाक्य में अनुकूल प्रकृत अध्याय अष्टादश अध्याय इसी के जो वाक्य है वह अनुकूल है अनुकूल होता है कहा स्वे स्वे इत्यादि स्वे कर्म यथा संसिद्धि लभते न रहा स्वकर्म रहता सिद्धि यथा विद्युत इत्यादि कहा था और वाक्यांतर में भी तत्र भी अर्थ है युक्तार्थम कहते हैं वाक्यांतर वो भी यही अज्ञान के लिए कर्म करने के लिए प्रशंसा के लिए है हाँ। यथा प्रवृत्ति भूतानाम नाम सर्वबंधन तत्म स्वकर्मात्म सिद्धि विद्यमान ये कहा ये अष्टादश सत्याम कहा स्वकर्मात्म अभ्यर्थ्य उसकी पूजा करके अपने कर्मों के द्वारा अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके किसकी पूजा जिससे सारे संसार की प्रवृत्ति हो रही है और सारे संसार जिससे व्याप्त है अपने कर्म के द्वारा उस देवता की पूजा करके सिद्धिम विद्यति मानव आया सिद्धि ज्ञान योग्यता लक्षण के रूपी सिद्धि मानी ज्ञान होने की योग्यता आ जाती है अंतकर्म बुद्धि में आत्मज्ञान की योग्यता आ जाती है और आत्मज्ञान होने पर आगे मोक्ष होगा ये बताना है आगे कहते हैं विदुषा सर्वक्रम त्यागे भी न विदुषा तथा इतम तो कहा ज्ञानी सब कर्म का त्याग जाता है तो आत्मा में आत्मबुद्धि उसकी आत्मा में कर्म होना संभव नहीं है विदुषा सर्वकर्म त्याग भी ज्ञानी के संपूर्ण कर्म का त्याग होने पर भी न विदुषा तथा संपूर्ण कर्म का त्याग तथा संपूर्ण कर्म का त्याग अज्ञानी का नहीं हो सकता इति उत्तम पूर्व में एक कहा अभी तक एक कहा है इधानी उत्तम अनुद्या अनंतर सुलभ तात्पर्य वो जो पूर्व में कहा था उसके अनुवाद करेंगे अभी माने अज्ञानी को सारे कर्म का त्याग संभव नहीं ज्ञानी का त्याग होने पर भी ये कहा था उसका अनुवाद करके आप आगे के श्लोक के तात्पर्य बताते हैं आगे आने वाला श्लोक जो है उनचास नंबर का श्लोक है उसके तात्पर्य मैंने भूमिका हम बताते हैं ये कहा याच कर्मजा सिद्ध रूपता जो कर्मजन्य सिद्धि कहा था ज्ञान योग्यता लक्षा जो कर्म है ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षा और सिद्धि वही है यहां मोक्ष नहीं पूर्व श्लोक में कहा हुआ जो सिद्धि शब्द का था यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वता स्वकर्मात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि में निर्माण ना पुरुष श्लोक में वो सिद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान लक्षण योग्यता है ज्ञान होने की योग्यता आ जाती है अंतकर्म बुद्धि में कहा या च कर्मजा सिद्धि कर्मजन्य सिद्धि हो मानी अपने अपने वर्णाश्रम भेद कर्म करने से ज्ञान होने की योग्यता आ जाती है अंतकर्म में या च कर्मजा सिद्धि होता कर्मजन्य सिद्धि जो कहा पूर्व श्लोक में कहा था यही था यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वेदम तथम स्वकर्मा तम प्रत्यय सिद्धि मातो ये पहले था सहजम कर्म का उदय था सही है ज्ञान निष्ठायुक्ता लक्षणा सिद्धि यही सिद्धि है ज्ञान ज्ञान में निद्रा स्थिति निष्ठा ज्ञान निष्ठा लक्षण है कहा तस्या फलभूता उसके दूसरी सिद्धि और एक आई नैष्कर्म सिद्धि आएगी आगे पहले तो ज्ञान की योग्यता आ जाती है अपने अपने कर्मों के कारण से उसके बाद नष्कर्म सारे कर्माभाव रूप सिद्धि निर्गत निर्गतानी कर्माणी अस्पात सारे कर्म निकल गए जिससे उसको निष्कर्मा बोलेंगे क्या बोलेंगे वो व्यक्ति निष्कर्मा हो जाएगा सारे कर्म जिससे निकल गए नित्य निमित्त काम में प्रति कोई कर्म नहीं जहां आत्मभाव में पहुंचने पर उसको निष्कर्मा कहा जाता है और उसके धर्म आएगा नष्कर्म सह प्रत्यय लगा दिया होता है तो नष्कर्म धर्म है निष्कर्मा व्यक्ति धर्म है तो निष्कर्म सिद्धि आगे पहुंचेगा मैंने मोक्ष मिलेगा उसको यही है अपरोक्ष ज्ञान के माध्यम से मोक्ष होगा वो निष्कर्म सिद्धि है पहले जो कर्मजन्य सिद्धि कहा था वो तो ज्ञान लक्षण योग्यता है वो ज्ञान होने की योग्यता ज्ञान अंतकर्म एक योग्यता आ जाती है ज्ञान के लिए ये सिद्धि पहले कहा हुआ सिद्धि ये सिद्धि के माध्यम से निष्कर्म सिद्धि होगी आगे मैंने शुरू के साधन क्या रहा इसमें सहज कर्म रहा अपने अपने बलाश्रम धर्म कर रहा वहीं से चलते चलते वहां पहुंच जाते मोक्ष प्राप्त करता कहना है ये कहना है याच कर्मा सिद्धि होता कर्मचारी सिद्धि कहा था पूर्व में ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण कर्मचारी सिद्धि यही है ज्ञान निष्ठा की योग्यता के लक्षण सिद्धि है वो तस्या होता उसको फल रूपा सिद्धि दूसरी है और नैष्कर्म सिद्धि आगे आएगा नैष्कर्म सिद्धि परमाप संन्यासी ना बोलेंगे तो दर्शक बस सिद्धिर ज्ञान निष्ठा लक्षण वो ज्ञान निष्ठा लक्षण पहले योग्यता लक्षणा थी क्या थी ज्ञान में पहुंचने की योग्यता लाए लाए अपने कर्म के द्वारा वो फिर जब योग्यता आने पर ज्ञान में पहुंचेगा वो नैष्कर्म सिद्धि वही है ज्ञान निष्ठा लक्षण उसके बाद ज्ञान में रहना ये स्वरूप होता है उसका वक्तव्य कहना चाहिए फल फल फल फल सिद्धि को बताना चाहिए ये तो साधन सिद्धि होगी पहली बार अब फल सिद्धि को बताना है वक्तव्य थे श्लोक आरंभ थे इसलिए आगे श्लोक के आरंभ किया जाते हैं ये कहा ठीक है मैं मूल में है असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगछति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगछति असक्त बुद्धि असक्ता बुद्धि ऐसे कई भी आसक्ति रहित बुद्धि कई भी आसक्ति नहीं जिसकी बुद्धि की मैं पुत्रदार गृह आदि जितने भी होंगे मैं पुत्र संबंधी पत्नी है गृह आदि धन संपत्ति में कई भी आसक्ति नहीं हो वो वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आने पर स्थिति में जाता है व्यक्ति आसक्ति रहित हो जाता है आगे नैष्कर्म सिद्धि में पहुंचना है उसने मोक्ष में जाना है वो कैसे जाएगा माने ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई अपने कर्म के करने से जो सहज कर्म वो न त्याग करके करने से सिद्ध आ गई आने से असक्त बुद्धि कहा न सत्ता बुद्धि सशक्त बुद्धि न सक्त बुद्धि असक्त बुद्धि आसक्ति नहीं कहीं भी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहता इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा ये मेरा है आसक्ति नहीं ऐसा हो जाता है जिसके असक्त बुद्धि वाला है वो सर्वत्र कहा सभी में ये नहीं एक पदार्थ में आसक्ति रही तो होना तो अलग बात सारे पदार्थ मात्र में सर्वत्र सभी में और दूसरी बात जीता आत्मा शरीर इंद्रिया को जिसने जीता हुआ है अपने अधीन कर रखा है आत्मा मैंने कार्यकरण संघात इसको आत्मा कहा यहां शरीर इंद्रियादि को अपने अधीन करके रखा है जिसने उनके अधीन होकर नहीं चलता अपने अधीन रखा है ऐसा व्यक्ति हो जाता है किसके माध्यम से हुआ ये सहज कर्म के माध्यम से जो वर्णाश्रम विहित कर्म करने से यहां तक पहुंचा पहुंच जाता है आगे विगत स्प्रिय मान किसी इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है उसका किसी की इच्छा नहीं करता ये न इस्लोक संबंधी इच्छा न परलोक संबंधी इच्छा विगता स्प्रिया सारे के सारे प्रिया जिसकी समाप्त हो गई इच्छा पूरी समाप्त हो गई वही इच्छा नहीं ऐसी स्थिति में होता है उसके बाद संन्यास है ना नैष्कर्म सिद्धि में परमाम अधिगछति करते उसके बाद कर्म का त्याग करेगा स्थिति होने पर क्यों कहीं किसी की आसक्ति है ही नहीं आसक्ति लिए कर्म करता था और माने शरीर इंद्रिय का अधीन होकर के कर्म करता था उसको अपने जीता हुआ है और किसी की इच्छा नहीं है किसी इच्छा विशेष के लिए कर्म करता तो उसकी प्राप्ति के लिए ये तीनों हो गए उसके बाद संन्यास है ना उस कर्मों का त्याग के द्वारा जो कर्म कर रहा था यहां पहुंचने के बाद कर्म की जरूरत नहीं है ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ गई कर्म के द्वारा जब आ गई तो अपने अंतकर्मी गवा देगा किस स्थिति में हम होते हैं असक्त बुद्धि यदि हो आसक्ति रही तो सर्वत्र और शरीर इंद्र को अपने अधीन किया हो यदि जानता हो मेरे अधीन ये है मैं उनके अधीन नहीं हूं इस स्थिति में हो सारी इच्छा मात्र का अभाव हो हो गया हो उस स्थिति में उस कर्म का त्याग देना बर्रात्र वित्त कर्म करा था वो भी त्याग संन्यास है ना त्याग है ना नैष्कर्म सिद्धि जो नैष्कर्म कर्म का अभाव को नैष्कर्मा बोला जाता कर्माभाव विशिष्ट व्यक्ति को वो वही सिद्धि है कर्माभाव विशिष्ट होकर के ना अधिक अच्छे उसको प्राप्त करता है संन्यास के माध्यम से अंतिम में कर्म का त्याग यहां जो कर्म कर रहा था उसका त्याग किस स्थिति में यहां पहुंचने के बाद ज्ञान निष्ठा ज्ञान योग्यता निष्ठा लक्षण आने पर ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण आने पर यह स्थिति में हो तभी हमारे पे कुछ ज्ञान की स्थिति बन रही समझना कब असक्त बुद्धि सर्वत्र एक जगह अशक्त नहीं सर्वत्र आसक्ति रहित हो और शरीर इंद्र को अपने अधीर किया हुआ हो और सारी इच्छा मात्र का भाव हो स्वयं स्वसंवेद्य अपने जानता है कि स्थिति में हम हैं यह स्थिति बनी हो उसके बाद उन कर्मों का त्याग जो कर्म कर रहा था वो अब कर्म की आवश्यकता नहीं है नदी पार हो गया नौके की आवश्यकता नहीं संन्यास है न कर्म त्यागे न जो कर्म था उसका त्याग के माध्यम से परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगछति प्राप्त होती यही है परम जो नैष्कर्म सिद्धि है मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है ज्ञान के माध्यम से ये कहना है भाषण में कहते असक्त बुद्धि माने समास है असक्ता संग्रहिता बुद्धि अंतकरण यश्य जिसके असक्त माने जाए असक्त है संग रहित है किसी में आसक्ति रहित है अंतकरण जिसका जिसका अंतकरण कहीं भी फंसा नहीं है ऐसे स्वयं असक्त स्व असक्त बुद्धि का बहुरी समास है उसी को असक्त बुद्धि कहा सर्वत्र सर्वत्र तो क्या लेना पुत्रदारादिशु आसक्ति निमित्तेशु कहा पत, पत्नी पुत्र आदि जितने भी है आसक्ति के निमित्त है उनके होने पर भी आसक्ति रहित हो जैसे पुत्र ही नहीं उसकी आसक्ति की आसक्ति होनी है निमित्त हो जहां आसक्ति के निमित्त सामने होने पर भी आसक्ति रहित हो उसी को असक्त बुद्धि कहा अंतकरण जिसका आसक्ति रहित है वो ज्ञान निष्ठा योग्यता आने पर स्थिति हो जाती है पहले तो आसक्ति थी उसकी माने वर्णाश्रम भेद कर्म के द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता आ गई तब स्थिति है दूसरा जीतात्मा जीता आत्मा ये ना सर जीता आत्मा ही होता है बहुरी समाज है जिसने आत्मा को जीता आत्मा मैंने क्या है जीता माने बहिष्कृता आत्मा माने अंधकरण वैसे अंधकरण को जिसने जीता है अपने आत्मा माने अंतकरण जिससे अंतकरण को जिसने जीता उसको कहते हैं जीता आत्मा यही है जीता आत्मा विगत स्प्रिय विगता स्प्रिय तृष्णा इसके बिना मेरा काम नहीं देख तृष्णा एक ये मुझे मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए जो तृष्णा थी लौकिक विषय को लेकर तो प्रिया मन तृष्णा विगता निकल गई तृष्णा जिसकी अस्मा जिस व्यक्ति से निकली तो उसको निष्क्रिय ब्रह्मात्मा संबोधा कहते हैं क्यों निष्क्रिय जो ब्रह्म रूपी आत्मा जीवात्मा परमात्मा की एकता के ज्ञान से बोधा संबोधात सम्यक बोधात संबोधा निष्क्रिय ब्रह्मात्मा ने जीवात्मा परमात्मा की एकता ज्ञान निष्क्रिय ब्रह्म जीवात्मा एक ज्ञान ऐक्य ज्ञान के माध्यम से किसके हुआ वो क्या ज्ञान संबोधात कहा सम्यक बोध आत्मज्ञान के द्वारा ये सम्यक ज्ञान होने से विगत स्प्रिया हो गया कहीं इच्छा नहीं करता स्थिति पहुंचा यह एवं भूत आत्मज्ञ इस प्रकार बना हुआ जो कैसा असक्त बुद्धि जीतात्मा विगत स्प्रिय तीन विशेषण है ऐसा हुआ जो विद्वान होगा या एवं भूत आत्मज्ञ जो आत्मज्ञ होगा शरीरज्ञ नहीं है आत्मज्ञ हो गया है आत्मज्ञ आत्मान जाना थी आत्मज्ञ आत्मा को जान लिया हम ब्रह्मास्म भाव पहुंचा है वो आत्मा ज्ञान नैष्कर्म सिद्धिम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है कहना चाहते हैं सिद्धि निर्गतानी कर्माणी सब निष्क्रिया ब्रह्मात्मा संबोधा कहा जिससे सारे कर्म निकल गए किस कैसे निकल गए जिससे निकल गए उसको निष्कर्मा बोलना है तो क्या है निष्कर्मा निष्क्रिय ब्रह्मात्म संबोधात निष्क्रिय ब्रह्म और आत्मा को एकता रूपी ज्ञान के द्वारा सारे कर्म निकल गए मेरे में कर्म नहीं है ये बुद्धि में पहुंचा हुआ है स निष्कर्मा मैं ब्रह्मात्मा रूपी जो ज्ञान है ब्रह्म रूपी आत्मा हम ब्रह्माष्टमी ज्ञान इसके द्वारा सारे कर्म जिससे निकल गए शरीर आदि बुद्धि में कर्म मेरे मानता था अपने स निष्कर्म तस्य भाव उसको धर्म आएगा नष्कर्म नष्कर्म तत्सिद्धि सर जो नैष्कर्म है वो सिद्धि है नैष्कर्म सिद्धि है ना दो दो पद थे एक ही बना है जो कर्मधारी समाज दोनों में सा नैष्कर्म सिद्धि कहा नैष्कर्म समाज सिद्धि आप ष्ठी तो समाज भी कर नैष्कर्म की सिद्धि ये भी कर सकते हैं सिद्धि निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण से तो नैष्कर्म की सिद्धि क्या है निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थिति होना स्वरूप है उसके आत्मस्वरूप में रहना वही नैष्कर्म सिद्धि होती है वो लक्षण से तृतीय निष्पत्ति उसकी मान प्राप्ति आत्मभाव में पहुंचने की जो स्थिति है प्राप्ति ताम नैष्कर्म सिद्धि उस नैष्कर्म सिद्धि को परमाम प्रकृष्ट सिद्धि है वो कर्मज सिद्धि विलक्षण कर्मजन सिद्धि सिद्ध ज्ञान लक्षण योग्यता आई थी क्या आई थी ज्ञान लक्षण योग्यता सिद्धि थी अंतकर्म की शुद्धि के साधन था वो कर्म किया हुआ था जो उसे विलक्षण सिद्धि आई आत्मभाव में पहुंचाई ये सिद्धि है विलक्षण सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपम अभी अभी तुरंत मुक्ति सद्य अभी सद्य मुक्ति रूप अवस्थान स्वरूप है संन्यास है ना सम्यक दर्शन है ना तत्पूर्व सर्वकर्म संन्यास है अधिक संन्यास है माने सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन के द्वारा अथवा तत्पूर्व के सम्यक दर्शन के माध्यम से सर्वकर्म संन्यास है संपूर्ण कर्म के त्याग के माध्यम से अधिक अच्छति का नैष्कर्म सिद्धम परमाम अधिक अच्छति परम उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त मोक्ष प्राप्त करता है कहना है तथा उत्तम भगवान ने ही कहा था पंचम अध्याय में ने मनसा संन्यासा दैव न कार्य आस्ते इत्यादि कहा था सर्वकर्म मनसा संन्यास अति तो सुगम से द्वारे पूरे रही दैव न कार्य न करता हुआ न कराता हुआ हाँ। क्यों पहले करने वाला मानता था शरीर आदि में आत्मबुद्धि करे हुए करने वाला मानता था कभी प्रयोजक मानता था वो मैं इसे करवाता हूं काम मानता था दोनों नहीं कहा प्रयोजक भी नहीं बनता प्रयोज्य भी नहीं बनता इसी अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर पात नहीं हुआ है नवद्वारे पूरे दही आस्ते आया रहता तो यही अभी जीवन मुक्ति अवस्था में बैठा है ये कहा था समय हो गया है ठीक है फिर देखें ठीक है फिर देखें फिर रखते हैं ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम